Ay para कहीं विचार यो है हाँ, देखो सा एक दहनदास जी ब्राह्मण आज हाँ, जगो क्यों तो हाँ ओंदा और वारी जो स्त्री ही जो कोई ही ओंदी और चालीस वर्ष या ब्याह करियो ने जेड़े वाले लड़को लड़की यो कोई नहीं चालीस वर्ष से बाद में ऐसी भगवान री मोटी भारी कृपा ही जो एक लड़को है जो हो लड़को हो दस साल रो ये लड़को अनुभव है जो स्वर्ग लोग है जो सीधा है तो दैनदास जी महाराज भगवान रे माते गुस्सो धारण कियो ये परमात्मा कह तो देनो नी हो दे दियो तो लड़को पाछो की देनो नी हो दिन हो सा दिन जारो भाग धनी ने दायो ज्ञान ज्ञान प्रकाश भयो मैल भई जद मेले मिलिया परमेश्वर वन पुत्र अरे लागा पाप पूर्व ले भोरा वो पुत्र पुएणो सुर्ग में गियो अरे कोई लाल ला कर्म रो आए जो पाप करियो हाँ वो आए जो कर्म वो लड़को है जो सुर्ग लोग सीधा आए तो धैनदास जी महाराज और उन्हीं श्री दोनों धनी लुगाई माला ले ली हाथरे मोए ओंगनो अबोट कर दियो है और उत्तम कपड़ो उडाई दियो माथे एन हमें हाथरे में माला लेने ईश्वर वजन करनो हरुकार दियो है Bye. भाई जी केड़ो बिचारियो ऐसा दियो सा अबे वो ओंगणो अबोट कर दियो है एर उत्तम कपड़ो लड़के रे माथे ओडाई दियो है एर दो ही धनी लुगाई भगवान रे माथे गुसो धारण कर और भजन में लीन हो गया है पत्नी आई पागती बैठी पृथ्वी पर पोडाई दियो दियो देने ध्यान धरियो धुन मायने तो गोबिंद ऊपर गुसो दियो है अबे भगवान रे माथे गुसो धारण करने विराजमान होई किया है देने जान दरियो धुन माई गोबिंद ऊपर कुशो कियो है विश्वास भरोसो भारी हल कुंदरा एक तो पूरे ला पतरा की पेड़ ने उबारियो तो वही मालक बलियारी ऐसा बलियारी नाम री तो कई कहे अरे अब वे आरोसी पाड़ोसी आदि को ने ठा पड़ी रे जोशन जी फिरता दिए नहीं महाराज फिरता दिए नहीं बात कोई आज इतरो दिन छड़ियो है जड़े हां किया खटी है खटी ने किया જાન ખિડકી ખોલ ને દેખે મોય બેટા લડકો પોડાયડો પડ્યો હે એ દોઈ ધણી લુગાઈ હાથરે મય માળા લીઓડી ને રામ રામ રણુકાર રામ રામ રો રણુકાર લાગે તો ભડકાઈ આગતી પાકતી આડો યો પાડો ને ઠા પડે કઈ લડકારી દાગ સંસ્કાર કરને વાસ્તે તૈયારીઓ કરે કઈ દેવ સભા સુન લે હે ठारी रहन गरन दे बैठो सोहम मतो सदर कियो वो फाटी पाड़ोसी आया दागन रो हेमोन कियो है अबे जो सगलो परिवार इकट्ठो यो है एन आग दी पाग दी आड़ो ही पाड़ो आन सोच करियो रे देखो कितो बूढ़ो आदमी हो लड़को यो और अब सुर्ग लोग जाते रहो भगवान बड़ी खोटी बुरी बात करी है धनदास जी महाराज कह भाई इनमें कोई बुरी को नहीं है कहते तो आज वो दियो इन लड़का ने आनी सर्दीत करी जो सर्दीत नहीं कियो तो તો મારી ને જો ભેળી દે કિસનાર ફૂલ सारी रहन गरण दे बैठो सो हम मतो सदर कियो पो फाटी आया पारो सीधाग्न रो हेमान कियो धन दास जी कह धीरप थे राखो भाई थे पिस्ताओ क्यों कियो मारा पुत्र ने मैं जलाऊला नित्र दागेला जिन दियो कह तो भाई मैं मारे अपने आप है नहीं ये रो दाग संस्कार कर दे हाँ। और जो मैं मारा हाथ दाग संस्कार नहीं करूला तो वो है जो खुद मालिक जो देने वाला फिर वही परमात्मा आके इनका दर्शान उद्धार ना वाह वाह क्या तो वो धनी आई आई नहीं ने बाल नहीं दिन में मारा आत्मा जो इन लड़का ने बालू को ऐसो पूर्ण ब्रह्म माते परमात्मा माते सच्चाई धारण कर नियमों के अनुसार और अबे जो माला लेने जो विराजमान हो है राम राम धुन लगाए है तो कई वैकुंठ में विष्णु भगवान हेलो हुने અને કઈ બ્રાહ્મણનો ભેષ કરે બાંધેરે માથે ખડીયો લેવે હાથ મે ડોંગળી લેને જો મહારાજ રે દ્વારે આવે હે અરે આને જો મહારાજ ને કહે ભાઈ મને દીક્ષના કરાવો અરે મહારાજ કહે ભાઈ મને દીક્ષના કરાવની સમય નહીં હે કઈ દીક્ષના કરાવો તો ફેર હે જો करो विचार वे मरा जान दे कह तो धके वो लड़को पड़े एड़ो है ए वे दो ही धनी लुगाई है जो इसरो बदन कर लिया है तो दैनदास जी महाराज ने कहे थे दीक्षिणा करो तो दैनदास जी महाराज कह के भाई मैं दीक्षिणा नहीं करा सकूं तो विष्णु भगवान पूछे आ दैनदास जी ने था नहीं भाई खुद भगवान ही है वे महाराज आज वो लिया थे कूनो भाई ब्राह्मणों में तो तो ब्राह्मण और धर्म में चर्चे दिन लड़कों ने जो घर में मरियोड़ो ने राखना तो तो कि जड़ा दे कि मैं जड़ाऊ को नहीं महाराज क्यों तो मैं यूं नहीं जड़ाऊ કે કે તો હું ધણીને ઓ લડકો દેણો નહીં ઓર જો દેણો તો પાછો ક્યું લેણો પાછો ले लियो इन्हें वास्ते कह तो भगवान आ लिए बच्चे ने सर्जित कर ही अगर जो नहीं करेला तो देख किस तार कर तो बड़काई है अब धैनदास जी महाराज ने विष्णु भगवान कहवे कई देव सभा हुने देखा रे अरजी अलग अविनाशी रे Thank I'm apagar. आवत हैनदास जी बरादरो कृष्णु भगवान हेलो सुन दरवाजे आया है नान के दिरकारे देना थारा जीवना में भाई बच्चा ने डाले को नहीं है सुन दी हरजल कवन्यासी जट ब्राह्मण रो वेश कियो धैन दास रे धाम पदारिया रे दुर्ग देना मुर्दो नहीं दागन दियो अरे धैन दास मत कर हरसे हम नो इन मार्ग संसार कियो अरे जन्म मरण रा आदू रस्ता इनो पार तो किणी नहीं तो कहो बिचारी हो महाराज कह धिकार है थारा जीवना में और तू इन्हें जो लियो बैठो बेटिया बाप ब्राह्मण वे एन हाँ, इने जो जड़ावे नहीं क्यों नहीं तो थारो वो क्रम थोड़ो ही है कि भाई मुर्दा ने घर में लिया बैठो दिन हो तो फिर कहीं है दिनो धनदास जी महाराज पाछो भगवान ने मीठा शब्दों प्रेम सुख है हे महाराज मैं कहूँ जो सुनो तो करी थे को दिकार है इन्हें तारा जीवना में हाँ, मारा जीवना में धिकार नहीं है कहो कि मैं कहूँ जो सुनो सुनो। तो कहीं तो भगवान ने पाछो धनदास जी महाराज कहे कई देव सभा મુરલે હે अरे दूरक नहीं मन वो तिरकी yeah. Canta મહારાજ ને પાછું હસતે હુએ મીઠા શબ્દો ધ્યાનદાસજી जी महाराज के महाराज हूं तो करी थे यही बैठा बैठा कहीं टाप टोलिया करोगे क्या के देख लो सुनो महाराज मैं कहूँ देखो अरे मने को अधिकार है थारा जीवना में थोने अधिकार है महाराज जी से देव देवनारायण दिर्क नहीं मने महाराज दिर्क है उनने और दिर्क तो मने पुत्र दियो और दियो कियो पर पाछो क्यों दियो मैं तो इन खातिर ही नहीं दागर दियो क्या तो देनो नहीं हो और जो दियो तो पाछो क्यों दियो मैं तो इन खातिर ही नहीं दागर दियो नहीं हो उनके है जो दिन फाचो लियो तो कह तो है जो ये लड़का ने भगवान आज આજ कर ही और जो नहीं करेला तो मारी दे કિસનાર પુન कर हाँ मैं दो ही धनी होनी है जो खत्म हो तो महाराज कहे देख भाई ऐसी बात है नहीं तो कोई खत्म ही जे हाँ, नहीं कोई बात है मरिया को किया तो नहीं महाराज ने जीव तो कराओ भगवान कह देख भाई उजड़ खेड़ा और बसे निर्धनिया धन होय अरे ज्ञान जोबन नहीं बावड़े मुआन जिंदा नहीं ये आदमी है वो त्यार पड़े बूढ़ा पो आ जावे तो फते बच्चों नहीं बने और मरियो ना जीव तो वे कोई नहीं, नहीं। तो फिर क्या है मैं जो कहूँ जो सुन लेता हूँ तो भगवान बड़ा में कहीं डंडा जी मना ने समझावे कई बात तो का बंदा देखा नहीं मोरे काशी रे पुरी रे मोरे खुद में गियो हरि तला तेरे का तलवादी राजा रे अरे भाई अरे अरे बड़े काशी तो भाई एक और छोटो सो एक बच्चो है पर एक बात कहूं जो हूं दे तू बातो महाराज को हजार मुंह मोनू नी एक लगा तो देख भाई हरिचंद दिशी का सतवादी राजा काशीपुरी में कुटुंब हो अरे कंवर तास ने बासिंग दस गोदन कुण बैठे धना कर्म रे लिखियो लिखियो है के रोई तास कंवर ने बासिंग दस गो देखो वेड़ा सतवादी राजा अधिकरो लड़को गुजर गयो भाई थारी किन चलाई तू हाँ, कई हाँ। जुआ है के वो हाँ। महाराज रोहितास ने तो कंवर ने जेको सर्प दसियो तो वो तो बागों में फूल फूटने वाले कियो ओ क्यों कटी फूल फूट हां वो तो मारे घर में बैठो हो दिन हो पर बात आए महाराज एक मैं कहूं जो सुन दो तो कही तो विष्णु भगवान ने भगत वो भगत है जो पाछो भगवान ने कहे उन्हें भगत ने आठा नहीं भाई खुद भगवान ही है अरे तो कहीं तो है देहनदार थी पाछो कहवे इन देव सभा सुन ले है ભાઈ કહેવો છે એ મહારાજ દિન ટાઈમે શમશાન ભૂમિ કાર્યમાં રોહિતાસ કમળને લે એને લોણી રોણી જળાવને वास्ते की वह बात याद करो के की बात हाँ, अरे कूड़ो कलंग तारावंती ने लागो लागो और शीश काटनरो हुक्म यो राजा बेग तेग से आया खोंडो पड़ियो पहली कीड़ पकड़ियो मरा शमशान भूमि कार्य में लड़का ने लियो बैठी अरे उठे उना पतिरोज पोरो लागतो તો હું પતિ કયો ભાઈ મેં લડકાને સોનારો ટકો લ્યો બિનો જણાવું છું કોઈ નહીં તો વાહ સતી બોલી હરિચંદ્રી લુગાઈ તારાવંતી એ ભાઈ પરાદાર અટે મેં ટકો કઠો લાવું કોઈ મારે લોક હેંદો નહીં આગો નહીં પૂઠો નહીં और મારા બચ્ચાને જકો સર્પદસ કોઈ ની વાસ્તે જણાવું દે તો કે મેં જણાવું દઉં કોની तो ओळख लियो के ओ तो पति है आ मारी पत्नी है ओ मारो लड़को है पण वे जो आपस में क्रोध नहीं करियो के सतमत छोड़ी साईबा अरे एर सत सोडियो सु पत जा सत के बादी लक्ष्मी फेर मिले ली हाय हाय पर सतनी छोड़ियो वे के भाई एड़ी बात है मैं तो अट नौकर रियोड़ो हूं जो सतनी छोडू मैं हो न रो टको बिनो जलावन नहीं देऊ देऊ ला रानी रा दोतो रे मैं पद्महा दिनो सवा सवा लाकरा दिनो तो वे जो दोनी दोत पाड़न दिया तो कह भाई मैं तो हूं तो बोले ये जो रगतू भरियोड़ा लू कोनी जने उन पहला जन्म में गंगा हूं वचन कियोड़ो जो साफ करिया साफ करने दिया तो ही वे जो टको पूरो यो कोई नहीं तो राजा ने गंगारी तटरे माते रोनी राजा भेड़ा भी आ उन टाइम में घड़ो नहीं ऊंचियो जने कहो भाई मैं तो ऊंचा नहीं सकू थे ऊंडा पानी में भड़ो जो पानी टल्लो लगाई थी कहो जो घड़ो ऊंची क्या वेला તો આ રોણી કહે રાજા ને રાજા મેં આપને ઉપાય બતાવી દઉં મને કીન કી ઉપાય बताओ तो वाह પાછો કે ઓર કઈ ઉપાય કોની ઓર શહેર હતી કે હું ભિક્ષા માંગને લાવો લાવો લાવો પણ મને તો ટકો પૂરો કરો હા દિયો બીજો મેં જણાવું દઉં કોઈ નહીં તો રોણી ભિક્ષા લાવને વાસ્તે ગી દોંત પાડ્યા હેંગ બાતો કરી જેડે બહુ ટેમ હોય કેયો હે जड़े वे रस्ते बेवनारा लोग बागा जो देखियो मुंडो खूनू भरियो जने होपरत कहो देखो दस बारह साल रो लड़को खोला में लियो बैठी है હા સર एन खूनू है जो मुंडो भरियो है जो बच्चा ने है जो चीर चीर ने खावे खावे સાંભળતા और आ तो कोई डाकण है डाकन बड़ी भारी है बारी खैर खाली कर ये ये नी दिन राजा ने कहे नीनो प्रबंध कराय दो तो राजा उठो हुक्म दियो भाई उठे पहरेदार है देखो कहो उन पहरेदार ने कि उठे वहाँ है जो डाकन बैठी उनो मातो का કાઢ લો लो तो पहरादार कने खोंडो हो हुक्म दियो उन पहरादार ने एक जा भाई उन्होंने जो डाकनो माथो काट पहरादार माँ तो काटने वास्ते गयो है उन्हें ठा पड़ गई भाई रोनी तो भारी है एन हाँ, लड़को ही मारो है तो उन्हें मनरे में कायर पनो आई है तो रोनी पूछे राजा कायर पनो क्यों है देखो होनियो है रे तो राजा कहीं कह रोनी ये ओक बोंद दे मारी हाँ। तो थारो धटके ही शीश उतारी रोनी भी वे एन हाँ। उन राजा री है जो ओक बोंद न में है जो बतावे राजा तू मत तरसा के मारो और मारो धटके ही शीश उतारो रोनी कहे राजा तरसा तरसा मत मारो मारो झटके सी अब राजा ने रोष आयो है इतरो कहते ही राजा है जो तौन परोन वो खोंडो पव ने ढूका उन्हीं टाइम में है जो भगवान कृष्ण आने जो विष्णु भगवान है जो हाथ पकड़ है जरे राजा हरिचंद्री ओ क्यों बादोड़ी पूछे मारे लारे कौन है भाई के मैं तो हमारा हाथ किन पकड़ियो के हो तो मैं भगवान कृष्ण अरे भगवान कृष्ण ने कहा भाई भगवान कृष्ण ने तो हाथ चार वे थारे हाथ दो ही देख आँख खोलाई पाटो आँख क्यों रहो जो खोल लारे जो के लारे दो लारे जो तो हाथ ही दो अच्छा। जन कह भाई मैं दो हाथ आलो ने तो मनु को नहीं ताक तो मैं तो चार भुजा धारण कर दर्शन दे तो उन्हें भगवान मानू उन्हें भगवान मानू नहीं तो बात झूठी है उसी जगह भगवान चार भुजा धारण करी तो कह भाई चार भुजा ही धारू तो मोनू को नहीं तो अरे। तो के जकोई चार ही हाथ में चार शस्त्र ले દિનો तो मैं मानू માનું जने भगवान चक्र अरे। शंख અરે पद्म और थाने को रतन अरे। ये चार ही चीजें हैं जो बताई अरे। शंख पद्म गजा और अरे। रतन ये अरे। चार ही चीज है, चार ही हाथों ने मोहन ने बताई जने है जो हरिचंद राजा हरिचंद विष्णु भगवान ने मान लिया है पूर्ण विश्वास पूर्ण विश्वास आयो है और परिक्रमा देन पाए ला गया है उन्हीं टाइम में है जो भगवान है जो ये लड़के ने है जो हरिचंद्र ने सर्जित कियो है और हरिचंद कहो महाराज एक वचन मांगू तो कह भाई वो कहीं वचन मांग थने हो है जो पचन है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पण वचन न जाई जाई ओ वचन है महाराज ऐसी कोई दुनिया ने मैं कि नहीं कष्ट नहीं देनी દિનો कहीं कहो મને કષ્ટ દી हाँ जैसे मने कष्ट दी एड़ी कोई भक्त ने कष्ट कष्ट मत नहीं नहीं देनी દિનો तो दैनदास जी महाराज भगवान ने कहा महाराज इतनी कष्ट थी और एड़ी शमशान ने माने हुए सर्पदसियोड़ो बच्चे ने सदीप कियो तो मारे तो हाल तो इन्हें कोई कीड़ी डंक नहीं लगायो है और मैं तो पूरो ही पद्धति रागियो हाँ तो आज ने सदीप करनो ही जे पढ़ेला तो भड़काई ये लो मारे हैं दैनदास जी महाराज ने भगवान कहते हैं ना क्यों में देखियो बिनो बात झूठी ए महाराज जो है जो वेद बाणी शास्त्र वेद और बाणी शास्त्र कहे जो तो कदी बात झूठी नहीं तो भड़काई तो है जो बाणी कहवे कई बात बन जावे है के देना बात आ है भाई को मनाट करी बात है राजा सागर रे सात हजार लड़का है के राजा सागर हो जी करे सात हजार परिवार हो इन पृथ्वी बात है नहीं तो वो कोई लड़ सकते नहीं कोई वो ने हरा सकते वो रे कने कहीं एक घोड़ो हो उन घोड़ा रे जो गला रे चिट्ठी बहुत कागज लिखने वे जो कोई संसार में छोड़ता डालता जो धको उन घोड़ा ने डाबतो धको ही जुणू जो झगड़ो युद्ध करता एक दिन कहो बिचारियो है राजा इंद्री राजधानी में वो घोड़ो गियो परो गयो राजा इंद्र देखियो करियो तो हाथों को अब सागर राजा है हाँ जिकेरो घोड़ो है उन्होंने साठ हजार परिवार है हाँ साठ हजार परिवार है नहीं तो वने वहां पे जीत सको और नहीं वने हरा सको जो हराया नहीं तो अपनो जो राज वे ले ले उन घोड़ा ने ली जान कपिल मुनि तपस्या करतो उना असने मत ले जा जवा मेघ छोड़ दे घोड़ो ने बोंद दियो है तीजो दिन यो यार घोड़ो नहीं आयो जने है जो आपरी फौज ले साठ हजार पुत्रों नी राजा सागर उठे पहुंचियो कट पहुंचियो कपिल मुनि राज जाके जावे हाँ, घोड़ो बादो वहाँ है जो कपिल मुनि रा लड़को देखियो के वो तो कोई राज ऋषि है राजा इंद्र रो गुरु है हाँ, जो को घोड़े ने बोंद दियो है तो पहली तो मराद ने मार दो मराद ने ठानी भाई घोड़े किन बोंदियो है अने सात हजार पुत्र किन वे तो आप राज भक्ति रे में और मारा रे मोए ने मून डालियोड़ा बारह बरस ना उठे पल लगायोड़ा बैठा बैठा पर लगा बेटा महाराज रे ಪಲ್ಲಗಾಡ वो कमडल खो परो ಕಮಡಲ್ हाँ, महाराज रे एक ಏಕಾದಿಯ जो थप्पड़ मुकी डको दुबो छेड़छाड़ करी इनके महाराज री पल खुली पल खुलता ही शराब दियो जो साठ हजार पुत्री आदि को है जो पाखोड़ना गया है बाटा बन गया साठ हजार पुत्र हा जको ये जो बाटा बन गया गया तो सात हजार पुत्र बाटा गया उन्हीं टाइम रे मैंने एक रोनी रा पेट रे मैंने आशा ही जड़े दुनिया है जो मैनियो देव ने डूका के देखो साठ हजार पुत्र आज कोई अधोगति जाता है जने सा, राजा सागरो पोतो भागीरथ पूर्ण पूछियो ए भाई મારો પરિવાર કઠે કે ભાઈ થારો પરિવાર હોજ કે ને તો 60000 પુત્ર આ જો કપિલ મુનિ વચન દિયો જો હું વચન નષ્ટ ખતમ હો અધો ગતિ મે ગયા પરા તો હું પૂછ્યો ભાઈ કોઈ ગતિ મેલ સકે ગતિ મેલ સકે સિર્ફ है जो कोई गंगा संसार में मृत्यु लोक में लावे तो है जो है मोक्ष प्राप्त हो सके जन उन जान 12 वर्ष तक तपस्या करी तपस्या करी ब्रह्मा जी महाराज री जन ब्रह्मा जी महाराज रे का गंगा है जो ब्रह्मा पुत्री है हाँ ब्रह्म पुत्री है आ हाँ। ब्रह्मा जी की पुत्री है गंगा हाँ। ब्रह्मा जी की बारह वर्ष तपस्या करी दे ब्रह्मे जी भागीरथ ने बख्शीश करी भागीरथ लेन भगवान शंकर ने कुंडली में ब्रह्मा पुत्री ही जो शंकर भगवान ने परणायोड़ी ही और शंकर भगवान रे माता रे माता है जो रहती जिन बारह वर्ष तक है जो शंकर भगवान की तपस्या पचे शंकर भगवान संसार में वरदान दियो के जाते हुए जो भागीरथ तेरे साथ जाए परी एन इनो है जो सात हजार परिवार है जो अधोगति गियोड़ो है जो उनो है जो गत कर तो ब्रह्म कुंडली शिवरी जटा और भागीरथी भाव गर्वर से गंगा आई पचमोड़ी आई माय ब्रह्म कुंडली शिवरी जटा ब्रह्मादिरी कुंडल मऊ और शंकरी जटा मऊ तपस्या कर भागीरथ लेन आयो लेन आयो तो कठे लेने आयो साठ हजार पुत्र कपिल मुनि रो आसन है हिमाचल पर्वत रे माते उठे जवाला मुखी गंगा है हाँ, ગારા તો મુંડા બહુ નીકળે એનો આજે સાત હજાર પુત્રો ને માતું વે એના ગંગા સંસાર ને મોને તો કે ભાઈ सागर रे सुत साठ हजारा नवे नीर दातन करता एक पलक में पृथ्वी जी जगत पति से देना कुण जीता दास भगत सो मत कर हर से ओम नो इन मार्ग संसार गया जल मरण राधु रास्ता इना पार तो किनी नहीं देख भाई साठ हजार पुत्र हाँ, हाँ जब कोई एक सकीन में कपिल मुनि रहा जो आसन माते हाँ, ज्ञान हाँ। तो और राजा सागर तू है तो है कोई नहीं तू मोहन जाई ने जड़ाई डेंदा जी महाराज के महाराज जलावन वाली बातों राजा सागर रा पुत्र है गर्भ कियो हो हाँ, एन मैं तो मारो की गर्भ है कोनी हाँ, मैं तो उन भगत हूँ हाँ। और मारा फिर नहीं आदमी हो जो उन्हीं मर्जी हो तो जीव तो कर दे नहीं देने है जो ओ गति मरना ओ गति सोई तो, तो फिर है देनदार जी महाराज कह देख भाई हमें हूं दे मैं कहूं जो एक बात कहो महाराज बातों को अच्छा। बातों को बातों बातों बोली मोकली को तो भगवान हमें देनदास जी ने कहा भाई तू कह साठ हजार पुत्र ने पर मैं कहूं जो सुन लो तो देनदास जी महाराज कहीं पाछो भगवान ने कहे कई बातों